कंचन कञ्चन कलशविचित्र सवार सब धरे सज निज निज द्वारे बन्दनवार पताका तु सबनि बनाए मंगल हेतु विधि सकल सुगन्ध सिचार गजमनिरति बहु चौ कपुराय साजे हरसि नगर निशान बाजे जह तह नारिन छावर करही देहर शिवर भर कंचन थार आरती नाना युवती सजे करही शुभ गान सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं कर आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन के पुरशोभा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा खान तेहु यह चरित देखि ठगिर ओ माता सुगुण नर किमि कही वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं स्तंभित हो रहते हैं शिव जी कहते हैं हे उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं नारिकुमुदनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अस्तभये विगसत भये निरखि राम राकेश होहि सगुन विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान स्त्रियां कुमुदनी हैं अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को निरख कर वे खिल उठी अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं आकाश में नगाड़े बज रहे हैं नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले प्रभु जान के कई लानी प्रथमता सुगृह गए भवानी ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा पुण्य निज भवन गवन हरि की नाम कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नार सुखी सब भय गुरु वशिष्ठ द्विजलिए बुलाए आज सुघर सुदिन समुदाय शिव जी कहते हैं हे भवानी प्रभु ने जान लिया कि माता कई कई लज्जित हो गई है इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया फिर श्रीहरि ने अपने महल को गमन किया कृपा कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है सब द्विज देहु हरषि अनुशासन रामचंद्र बैठ सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये सुनत सकल विप्रणयति भाई कहीं बचन मृदु विप्रयने का जग अभिराम राम अभिषेका अब मुनि बर विलम्ब नहीं की जय महाराज कह तिलक करी जय आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है हे मुनि श्रेष्ठ अब विलम्ब कीजिए अब विलम्ब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए तब मुनि कहौ सुमन्त्रसन सुनत चले हरसय बहु बाज गज तुरत सवार जाय जह तह धावन पठये मंगल द्रव्य मगाय हरस समेत वशिष्ठ पद पुन सिर आय तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा वे सुनते ही हर्षित होकर चले उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया